प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों हम मनुष्य शरीर में भी हैं अन्य भी बहुत सारे प्राणी संसार में दिखाई देते हैं तो कब और क्यों कोई आत्मा मनुष्य शरीर में आता है दूसरे शब्दों में मानव शरीर कब मिलता है इस विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं अधिकांश व्यक्ति ये कहते हैं कि बड़े पुण्य से मनुष्य शरीर मिलता है वो इसलिए कहते हैं कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य शरीर अति विशिष्ट है बुद्धि की दृष्टि से शरीर की दृष्टि से और इसीलिए वो प्रगति कर पाता है तो जब इतना विशिष्ट शरीर मिला है तो विशेष पुण्यों के कारण ही मिलता होगा और वो युक्ति ठीक भी है कि पुण्यों के कारण विशेष पुण्यों के कारण मनुष्य शरीर मिलता है और इसके साथ वो ये बात और जोड़ते हैं कि जब पुण्य अधिक होते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है कर्माशय में जब पुण्य अधिक होते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है मनुष्य शरीर अधिक पुण्यों का फल है ये ठीक होते हुए भी ये बात आवश्यक नहीं कि कर्माशय में भी पुण्य जब अधिक होंगे तब ये मिलेगा इसे समझना है अंतर क्यों जब एक तरफ हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि पुण्यों की अधिकता से ये मनुष्य शरीर मिलता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ अच्छा है तो हमारे कर्माशय में भी पुण्य अधिक होंगे तभी तो ये मिलेगा ऐसा माना जाता है पर जब पाप और पुण्य की तुल्यता होती है तब भी मनुष्य शरीर मिलता है नए कर्म हम मनुष्य शरीर में ही करते हैं अच्छे या बुरे जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो उसका फल अन्य शरीरों में भोगते भोगते मनुष्य से भिन्न शरीरों में भोगते भोगते जब पाप क्षीण होते जाते हैं और पाप पुण्य बराबर होते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है ये उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने पिछले मनुष्य जन्म में अधिक पाप कर्म किए थे या और परिशुद्ध ढंग से बोले तो पिछले मनुष्य जन्म के अंत समय में जिनके उस जन्म के और पिछले जन्मों के मिला करके कर्मों में पाप अधिक होते हैं तो वो अन्य योनियों में जाते हैं तो जब पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य शरीर मिलता है तब भी ये मनुष्य शरीर मिलने में पाप और पुण्य दोनों बराबर खर्च नहीं होते पुण्य अधिक खर्च होते हैं पचास और पचास पाप और पुण्य हो तब भी मनुष्य शरीर जो मिलेगा उसमें पुण्य अधिक लगेंगे पुण्य अधिक खर्च होंगे इस दृष्टि से ये मनुष्य शरीर पुण्यों के कारण ही मिलता है अधिक पुण्य होते हैं कुछ दुख और कष्ट भी जो होते हैं हमारे को ईश्वरीय व्यवस्था से शरीर में कोई ऐसी विकृति होती है वो हमारे पाप कर्मों के कारण होती है तो जब ये मनुष्य शरीर मिलेगा और पुण्य इसमें अधिक खर्च हुआ है तो जो बचेगा वो कैसा होगा उसमें पाप अधिक होंगे जो बचा हुआ होगा जितने पाप और पुण्य थे वो बराबर तो थे पर उन सबका फल ये मनुष्य शरीर नहीं होता है कि जितने भी पाप और पुण्य बचे थे वो बराबर थे और उनसे मनुष्य शरीर मिल गया ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाप कर्म भी हमारे रहते हैं जिनका फल मनुष्य शरीर में होता ही नहीं है अन्य योनियों में मिलेगा लेकिन चूंकि पाप पुण्य बराबर हो गए इसलिए मनुष्य शरीर हमें मिल गया तो फिर मैं उस बिंदु पे आता हूं कि मनुष्य शरीर पुण्य के कारण मिलता है ये ठीक है और मनुष्य शरीर मिलने में पुण्य अधिक लगता है ये भी ठीक है किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जिस व्यक्ति के पुण्य अधिक होते हैं कर्माशय में उसी को मनुष्य शरीर मिलता है ठीक है तीनों बातें मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों का पुण्य कर्मों से मिलता है मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों से मिलता है ये बात ठीक है मनुष्य शरीर मिलने में पुण्य अधिक खर्च होते हैं पुण्य अधिक चाहिए पाप की तुलना में पाप कर्मों का फल भी मनुष्य शरीर में भोगा जाता है केवल पुण्य कर्मों का फल ही नहीं भोगा जाता पाप कर्मों का फल भी भोगा जाता है लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो पुण्य की अधिकता लगती है मनुष्य शरीर मिलने में तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कर्माशय भी पुण्य की अधिकता वाला था इसलिए मनुष्य शरीर मिला है मनुष्य शरीर एक कल्पना करें कि साठ सत्तर अस्सी प्रतिशत पुण्य से मिला और बीस तीस प्रतिशत उसमें पाप कर पाप का भी है उसका भी फल भोगेंगे हम यहां तो कुल मिलाकर के जो मिला है पुण्य की अधिकता से ये मिला है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कर्माशय भी पुण्य की अधिकता वाला था इसलिए मनुष्य शरीर मिला है पाप और पुण्य बराबर होने पर भी मनुष्य शरीर मिलता है उनका मनुष्य शरीर भी अधिक पुण्य के कारण से मिलता है पचास पचास पाप पुण्य थे तो मान लीजिए उसमें से तीस या चालीस पुण्यों के पुण्य लग खर्च हो गए और दस पंद्रह प्रतिशत पाप भी वहां पर जुड़ गए तो जो अब मनुष्य शरीर मिला है उसमें पुण्य की अधिकता है और यहां पुण्य की अधिकता है तो जो बचा हुआ रहेगा वो कैसा पाप की अधिकता रहेगी हो गया स्पष्ट ये बात एक ये दृष्टि कुछ लोग क्या कहते हैं कि चौरासी लाख योनिया है चौरासी लाख तरह के प्राणी हैं अलग अलग और उसमें घूमते घूमते चौरासी लाख योनियों में घूमते घूमते घूमते फिर मनुष्य शरीर मिलता है और एक उदाहरण भी देते हैं कि एक व्यक्ति मनुष्य के लिए मनुष्य की शरीर की महत्ता बताने के लिए कि एक व्यक्ति था जिसको खुजली का रोग था और अंधा भी था वो देख नहीं सकता था और ऐसे मकान में या मंदिर में वो था जिसमें चौरासी दरवाजे थे चौरासी लाख एक लाख का प्रतिनिधि एक ले लीजिए या तो जितने भी थे चौरासी दरवाजे थे और उनमें से केवल एक ही दरवाजा खुलता था बाकी सब बंद थे और उसे उस मकान से बाहर निकलना है यानी इस बंधन से शरीरों के बंधन से उसे बाहर निकलना है और बाहर निकलने का रास्ता केवल एक है वो कौन सा मनुष्य शरीर मुक्ति प्राप्ति का रास्ता बंधन से छूटने का शरीर के बंधन से छूटने का रास्ता केवल मनुष्य शरीर है और किसी शरीर से मुक्ति में नहीं जा सकता तो इसको समझाने के लिए क्या कहते हैं कि उस मकान में गोल गोल मकान था वो चार चारों तरफ और उसमें चौरासी दरवाजे थे या चौरासी लाख दरवाजे थे सब बंद थे केवल एक दरवाजा खुला हुआ था और वो व्यक्ति कैसा था अंधा था वो देख नहीं सकता था कि ये दरवाजा खुला है तो मैं चलो सीधा यहां से निकल जाऊं यहां से जो दरवाजा खुला होगा उसमें से प्रकाश आ रहा होगा तो मैं इससे निकल जाऊंगा ऐसा उसको पता नहीं लगता था तो उसके पास क्या उपाय था कि वो दीवार के किनारे जा करके और दीवार को स्पर्श करके चलता जाए एक दरवाजा आएगा वो बंद था दूसरा दरवाजा आएगा वो बंद था तो चलते चलते चलते कभी ना कभी खुला वाला दरवाजा आएगा और वो हाथ स्पर्श से पता लग जाएगा कि यहां देखो खुला हुआ है और उससे वो बाहर निकल जाएगा पर कथा में क्या बताया जाता है ये समझाने के लिए कि मनुष्य शरीर मुक्ति प्राप्ति का ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र द्वार है साधन है पर यहां आकर के भी जब हम विषय भोगों में फंस जाते हैं तो ये अवसर भी हम खो देते हैं उसके लिए कहा जाता है कि उसको खुजली थी तो जब वो दरवाजा आया जिस हाथ से वो स्पर्श करता जा रहा था उसी समय उसने हाथ उठाया खुजली करने लगा लेकिन चलता रहा <laughs> निकल गया वो दरवाजा निकल गया फिर खुजली खोजने खोजने के बाद में फिर उसने छू लिया अब छूने के बाद में फिर चल रहा है तो अब क्या हो गया वो रास्ता तो निकल गया अब कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उसको फिर पूरा चक्कर लगाओ फिर आकर के फिर वही बात वही खुजली होगी और फिर आगे निकल जाएगा अर्थात एक दरवाजा था वो भी विषय भोगों से खो दिया तो फिर वापस चौरासी लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा इसमें परोक्ष रूप से क्या बात कही जा रही है कि सब में घूमने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है जितनी योनियां हैं जितने शरीर हैं उन सब में जन्म लेने के बाद में मनुष्य शरीर मिलता है इसका क्रम इसलिए इतना दुर्लभ है ये कथा का एक अंश ठीक है कि मनुष्य शरीर में आके भी यदि हमने साधना नहीं की और भोग विलास में रह गए तो ये अवसर भी चला जाएगा पर उसके साथ जो दृष्टांत में अन्य चीज जुड़ गई कि सब जगह चक्कर लगा करके और फिर यहां पर आता है मनुष्य शरीर में तो उनकी इस मान्यता के अनुसार मनुष्य शरीर कब मिलता है सब जगह चक्कर लगाने के बाद और इस जन्म को खो दिया यदि फिर वापस वही चक्कर लगाना पड़ेगा फिर खो दिया तो फिर चक्कर लगाना पड़ेगा ये उनकी एक मान्यता है जो कि गलत है मनुष्य शरीर में आने के लिए सब शरीरों में घूमना आवश्यक नहीं है जिसके जितने पाप कर्म अधिक थे उतने वो भोग लेगा चाहे एक शरीर में चाहे दो में चाहे दस में चाहे सौ में या लाख में या करोड़ में उतने शरीरों में भोग भोगते भोगते भोगते जब पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे पाप पुण्य बराबर होंगे तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा और जिन्होंने पुण्य अधिक किए हैं इस मनुष्य शरीर में वो तो सीधा मनुष्य से मनुष्य जन्म पाता है तो एक ये मान्यता है उसके लिए कई लोग ये भी उदाहरण देते हैं कि कर्मफल के संदर्भ में कि जब हमारे मनुष्य के कर्मों का उदय होगा तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा अलग अलग शरीरों के लिए अलग अलग कर्म होते हैं कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे कुत्ते का शरीर मिलता है कुछ कर्म ऐसे हैं जिससे मक्खी मच्छर का मिलता है किसी से मछली का मिलता है तो मनुष्य शरीर के लिए भी कुछ निश्चित विशिष्ट कर्म है वो कर्म जब होंगे तब मनुष्य शरीर मिलेगा ठीक है एक युक्ति उनकी लगती है कि निश्चित शरीर के लिए निश्चित कर्म होने चाहिए तो मनुष्य शरीर के लिए भी निश्चित कर्म होने चाहिए वो जब होंगे तब मनुष्य शरीर मिलेगा अब इसके साथ दूसरी बात क्या कहते हैं वो कि जिन कर्मों को पहले किया था उनका फल पहले मिलेगा उसके बाद जो किए थे उनका फल उसके बाद मिलेगा क्रम रहता है जैसे पंक्ति में कोई आए तो एक नियमबद्धता रहती है न्याय रहता है कि जो पहले आया उसको पहले फल उसको पहले काम होगा जो बाद में आया उसको बाद में काम होगा एक पंक्ति में आते हैं टिकट मिलता है ऐसे ही जिन कर्मों को हमने पहले किया है उनका फल पहले मिलना चाहिए जिनको बाद में किया है उनका बाद में फल मिलना चाहिए एक क्रम रहता है तो जब मनुष्यों के मनुष्य के फल मनुष्य शरीर का फल मिलने के कर्मों का क्रम आएगा तब मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं तो दूसरे कर्मों का जिनको पहले किया है उनका फल भोगते रहेंगे उसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि यदि किसी पात्र में गेहूं भरे हुए हों पतला ड्रम जैसा हो और नीचे से गेहूं निकालते हो तो सबसे पहले कौन से गेहूं निकलेंगे नीचे वाले निकलेंगे जिनको पहले डाला था बड़ा ड्रम ले तब तो आप उसमें कहोगे कुछ पीछे रह जाए लेकिन एक मान लो नल है पाइप है पतला और उसमें ऊपर से मिट्टी या बीज या अनाज गेहूं डाले और नीचे से निकलेंगे तो जो पहले डले थे वो पहले आएंगे जो बाद वाले बाद में धीरे धीरे सरकते सरकते उसमें से यूं बाहर निकलेंगे इसको उदाहरण को देते हुए वो बोलते हैं मनुष्य जन्म कब मिलेगा जब मनुष्य कर्मों का फल देने वाले मनुष्य जन्म देने वाले कर्मों का क्रम आएगा नहीं तो तब तक नहीं मिलेगा ये भी एक मान्यता है इसी संदर्भ में एक भजन अपने यहां बोला जाता है जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं और उससे पहले वाली पंक्ति है अं, नर्तन चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं ठीक है बच्चों का खेल नहीं कठिनाई से है पुण्यों से आता है नर्तन चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं फिर एक पंक्ति क्या है जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं ठीक है पंक्ति बोलते हैं हम इसका क्या मतलब है मनुष्य शरीर कब मिलता है जब शुभ कर्मों का मेल होता है यहां तक ठीक बात है कि शुभ कर्मों से मनुष्य शरीर मिलता है लेकिन साथ में क्या लिखा वहां पर पंक्ति में जन्म जन्म के शुभ कर्मों का यानी अनेक जन्मों के शुभ कर्मों का जब तक मेल नहीं होता है तब तक मनुष्य शरीर नहीं मिलता है ठीक है तो ठीक बात है ये विचारो ये भजन हम बहुत बोलते हैं आर्य समाज में बोला जाता है ये भजन गलत क्यों है शुभ कर्मों से ही मनुष्य जन्म मिलता है शुभ कर्मों की अधिकता से शुभ कर्म आवश्यक है उतना ठीक है लेकिन पंक्ति में क्या कहा शुभ कर्म तो दूसरी योनि में होंगे ही नहीं देखो इन्होंने जो बात कही कि जन्म जन्म के शुभ कर्मों का तो पहली बात तो ये कही कि अनेक जन्मों के शुभ कर्मों का जब मेल होता है तब मनुष्य जन्म मिलता है एक जन्म से नहीं वो कौन से जन्म है वो भी आगे बात करते हैं लेकिन पहली बात तो क्या निकल के आई इस वाक्य से अनेक जन्मों के शुभ कर्मों का जब योग होता है तब मनुष्य शरीर मिलता है ठीक है तो वो जो अनेक जन्म है वो कौन से होंगे मनुष्य के ही होंगे मनुष्य से भिन्न होंगे मनुष्यों के कैसे होंगे आप उसको तर्क युक्ति से सोचो चलो मनुष्य शरीर मिलते ही पिछले सारे पुण्य खर्च हो गए और वो पुण्य कहाँ बनेंगे मनुष्य शरीर में ये कितना जन्म हुआ एक हुआ या अनेक हुआ एक हुआ अब फिर मनुष्य शरीर मिलने के लिए जो और जन्मों में कर्म करने वो कहां पर होंगे मनुष्य तो मिलेगा ही नहीं मनुष्य तो तब मिलेगा जब अनेक जन्मों के शुभ कर्मों का योग होगा तो अगला जन्म तो मनुष्य आप मान नहीं सकते वो कौन से जन्म होंगे तो मनुष्यतर मानने होंगे तो पहली बात ये इस भजन को हम इतना बोलते हैं मैं भी बचपन से सुनता रहता था आर्य समाज में बोला जाता था बचपन में जब आर्य समाज में जाते थे रोज सुबह उठ करके तू ईश्वर के गुण गाया कर मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर भक्ति का तो भजन है रोज गाय वहां गाय भजन गाया जाता था आर्य समाज में उसमें ये एक पंक्ति थी अभी भी गाया जाता है ये बहुत पुराना भजन है ये नया भजन नहीं है, है? बोलो नहीं दूसरा दूसरा सुना होगा तो जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं इसका मतलब है ये जो जन्म जन्म है ये मनुष्यतर होने चाहिए मनुष्य तो संभव ही नहीं है क्योंकि मनुष्य तो मिलने के लिए नहीं मनुष्य तो मिलने के लिए बात चल रही है ठीक है तो अन्य होना चाहिए तो इसमें क्या सिद्धांत विरुद्ध बात आ गई लिखा नहीं है इसमें ये लेकिन जो बात लिखी है वो तब सिद्ध हो सकती है जब अन्य शरीरों में भी पुण्य कर्म होते हों और वो होते होते होते होते जब अनेक जन्मों का पुण्य का ऐसा योग बनेगा जब अधिक पुण्य हो जाएंगे मनुष्य के लायक तब मनुष्य शरीर मिलेगा ये असंभव बात है ऐसा हो ही नहीं सकता और अगर ये मान के हम बात करें कि शुभ कर्म तो मानव शरीर में ही होते हैं तो अनेक मानव शरीरों का मैं पुण्य कर्मों का जब योग होगा तब मनुष्य शरीर मिलेगा ये वाक्य अपने आप में विरुद्ध है तो मनुष्य शरीर मिल ही रहा है आप कह ही रहे हो तो फिर और कौन सा वो मनुष्य शरीर है जो अनेक पुण्यों के शुभ कर्मों के योग से मिलेगा कितनी बातें हम भक्ति रूप में बोलते हैं लिखते हैं करते हैं लेकिन उसमें कितनी सिद्धांत विरुद्धता छुपी रहती है या अविचारित रमणीय बिना विचारे लेकिन सुंदर लगता है बहुत अच्छा लगता है सुनने में अच्छा लगता है और हम विचार भी नहीं करते उन बातों पे और किसी ने कवि ने लिख दिया कवि हृदय ने और सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है या समझ नहीं है और पंक्ति लिख दी और भक्ति रस में हम गाए चले जा रहे हैं तो इस ढंग से भी मनुष्य शरीर मिलने की यदि कोई बात कहे जैसे कि भजन में है वो संभव ही नहीं है ऐसा भी नहीं होता है तो मनुष्य शरीर मिलने को कई जो कहते हैं कि बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर दुर्लभ है है दुर्लभ कठिन है कठिनता से मिलता है लेकिन ऐसा कठिन नहीं है कि बहुत पुण्य करने पर यह मिलता है जो दुष्ट से दुष्ट आत्माएं हैं उनको भी मनुष्य शरीर मिलता है मिल सकता है मिलता है जब उनके पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे पाप पुण्य बराबर हो जाएंगे तो मनुष्य तो मिलेगा ही तो मनुष्य शरीर मिलना उस दृष्टि से कोई कठिन कार्य है क्या हर किसी को मिलता है पाप पुण्य बराबर हुए और मनुष्य शरीर मिल गया कितने ही पाप किए उसने जिंदगी में कुछ तो पुण्य हर व्यक्ति करता ही है कुछ ना कुछ तो पुण्य होते ही है तो उतने जब थोड़े थोड़े से पाप पुण्य रहेंगे तब फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए इस विषय में कश्यप जी घटाओ आप नैयाई को आप घटा सकते हो <laughs> घटाओ मनुष्य का जन्म लेना है तो चक्र उसमें नहीं बन सकता क्योंकि अन्य योनिया पुण्य कर्म तो करती नहीं या पाप कर्म करती है तो उनके भोगना होता है तो मनुष्य मनुष्य जन्म लेकर के वो मनुष्य नहीं कहना चाह रहे कौन सा मनुष्य तो कहना चाह रहे है कि मनोर्भव जो कहा जाता है मनुष्य की बात भी मनोर्भव कहा जाता है वो मनुष्य ले जाता है लिया जाना चाहिए ये आप न्यायिक हो इसलिए वैसा अर्थ ले सकते हो उसको संगति लगाने के लिए लेकिन ये जिस ढंग से बोला जाता है और जो अर्थ लिया जाता है वो सामान्य मनुष्य मात्र का जन्म के लिए है ठीक है आप उस बहुत उच्च की बात कर रहे हो वो नहीं है यहां पर नर्तन चोले को पाना बच्चों का खेल नहीं है ये बहुत कठिनाई से मिलता है और सुबह शाम ओम को ध्याया कर ये है मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर ये उस व्यक्ति के लिए कह, कहा जा रहा है जो अभी मलिन है ठीक है जी इसकी संगति ऐसे भी लग सकती है अच्छा सत्तर प्रतिशत हम्म। तो एक पशु जन्म मिला उसमें भूल गया तो उसका प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा पाप घट जाएंगे प्रतिशत तो कई जन्म में आठ दस जन्म पाप के भोगे जीव जंतु हम्म। के भोगे हम्म। और बिना पुण्य कर्म के ही पचास प्रतिशत प्रतिशत के ऊपर अगर घटाएंगे तो नहीं लेकिन वो बात तो मैंने रखी थी कि भाई पाप का क्षय हुआ लेकिन पंक्ति क्या कह रही है जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं इसका मतलब है इससे किसी जन्म विशेष में कुछ पुण्य कर्म हुए वो आके मिल गए फिर दूसरे जन्म वो आकर के मिल गए ऐसे अनेक जन्म <laughs> अनेक जन्मों से लेके मेल हो जाएगा तब होगा वो उस तरह से ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती हो जाएगी इनका तो फिर भी लगा सकते हैं कि भाई विशिष्ट मनुष्य जन्म की बात है हाँ रामदयालु जी हम्म। तो अलग अलग यूनिया थोड़ा है वो इनका कहना है कि गर्भ में बच्चा जब थोड़ा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो वो सब शरीरों जैसी रचना करता करता करता करता आ जाता है वो सारी की सारी योनिया उस गर्भ काल में ही नौ, नौ महीनों में ही पूरा करके आ जाता है वो नहीं है नहीं वो नहीं है वो उसमें अपने किसने सिद्धांत विरुद्ध कहा था कि ये जो गर्भ में रोते हैं करते हैं ये बात ठीक नहीं है यात्रा के दौरान कहा था किसी ने कि गर्भ में बच्चा रोता है कि मैं परमात्मा का ध्यान करूंगा नहीं वो खंडन किया था ना किसी ने है नहीं वो निरुक्त में तो आता है लेकिन किसने खंडन किया था कि ये सब गलत बातें हैं भावना की बातें ऐसा कोई नहीं होता है नहीं लेकिन ये निरुक्त में हम्म। है, इन दिनों किसी ने पिछले दिनों में किसी ने यह खंडन किया था मंच से प्रवचन अच्छा पूछो आप आप पूछो प्रश्न पूछो ये मनुष्य शरीर बराबर इसमें पुरुष प्रधान है ये नया प्रश्न है आपका ये मुख्य विषय से संबंधित नहीं है तो जी हाँ

ठीक है यही बात है ये सिद्धांत है इस आधार पे ही मैं ये कह रहा था कि देखो कैसी कैसी पंक्तियां और भी भजनों की कितनी पंक्तियां वहां भी रास्ते में भी बात हुई थी तो उसमें भजनों की पंक्तियां हमारी ऐसी रहती हैं हम्म? टंकारा की पुण्य भूमि को शीश नवाते हैं ऋषि गाथा में जो आता है तो वो तो आप सुन ही चुके हैं आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं तो ये शीश नवाते हैं ये जो कथन होगा ये सिद्धांत विरुद्ध है लेकिन हम गाते हैं वो पंक्तियां बोली जाती हैं और दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था हम्म वो भी हो गया और इनका भी और भी कई भजन ऐसे हम गाते रहते हैं नहीं वो दयानंद कहा से आया हाँ दीप जलाने आया था ठीक है वही है दीप जलाने आया था कहीं से आया था ठीक है ठीक है और किसी को कुछ पूछना है बोलिए तो जो हाँ, जन्म मिला उसके लिए भी कर्माशय खर्च हो गया ठीक है जाति आयु भोग जो प्रारंभ में मिलने थे उसके भी खर्च हो गया और फिर जीवन काल में भी जो सुख दुख भोगे जाते हैं न्याय अन्याय पूर्वक साधन मिलते हैं भोगे जाते हैं उसके आधार पर भी पाप पुण्य खर्च होता रहता है जन्म के काल में भी होता है और बाद में भी होता रहता है यदि कोई ऐसा प्राणी कोई कुत्ता ऐसा था उसका कर्माशय के कारण कुत्ते का शरीर मिला अब कुत्ते का जीवन जीते जीते कोई ऐसी स्थिति बनी किसी ने उसको बहुत प्रताड़ित किया ठीक है बहुत तंग किया तो उसको बहुत दुख हो गया तो उसका तो कर्माशय अधिक घट जाएगा और किसी को इतना कष्ट नहीं हुआ सामान्य रहा तो कम घटेगा इस रूप में तो दुख अगर अधिक भोग लिया दूसरों ने अन्यायपूर्वक दुख दे दिया है उसको तो उनका उनको उनके साथ वास्तव में अन्याय नहीं होगा जैसे प्राणियों को तड़पा तड़पा के मारते हैं अपना चमड़ा लेने के लिए या मांस विशेष प्रकार का लेने के लिए जानबूझ के तड़पा तड़पा के जो मारा जाता है अब उसमें उस प्राणी को तो कष्ट हो रहा है हमने तो अन्याय कर दिया मनुष्यों ने और उसका फल मनुष्यों को मिलेगा लेकिन उसने जो भोगा इतना अधिक दुख उसके साथ भी ईश्वर का न्याय होगा कि उसने अधिक दुख भोग लिया है तो उसका अधिक कर्माशय घट जाएगा चलते हुए कोई चींटी मकोड़े हैं वो कोई तो पूरे जीवन ठीक ठीक बिता दिया उन्होंने कष्ट नहीं हुआ और एक है कि हमारा पैर रख गया है किसी ने उसको इसकी टांग टूट गई और वो बेचारा कष्ट से जी रहा है तड़प रहा है ऐसे जो भी विकृत स्थितियां बनती हैं बना दी जाती हैं दूसरों के द्वारा जाने या अनजाने उनमें जिसने जितना पाप और पुण्य भोगा है सुख और दुख भोगा है सुविधा असुविधा का भोग किया है उसके अनुरूप उसका कर्माशय घट जाएगा ऐसा

बीस तीस चालीस पचास साठ वर्ष पाप अधिक कर लिए अब उसको जल्दी मनुष्य शरीर पाना है तो उसको क्या करना होगा पाप तो कर दिए जो कर दिए तो भोगने पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा पाप कर दिए तो बोले मैं तो बहुत ज्यादा बाद समय बाद में मनुष्य शरीर में आऊंगा तो उसको क्या उपाय है पुण्यों को बढ़ा ले वो तो पाप इतने ज्यादा कर लिए अब बचे हुए समय में पुण्य अधिक कर लिए तो इतना ही बस पाप भोगेगा बराबर होते ही मनुष्य शरीर मिल जाएगा और यदि पुण्य कम रहे पाप अधिक है बोले मेरे से तो बहुत पाप होगा और आप कुछ नहीं कर रहे तो जब तक वहां तक बराबर नहीं आएगा तब तक वो अन्य योनियों में चलता रहेगा इसलिए जैसे ही बोध हो हमारे को पाप अधिक हो गए वो पुण्य अधिक करना शुरू कर दो बस ये बढ़ जाएगा तो मनुष्य शरीर जल्दी मिलेगा मनुष्य शरीर जल्दी मिलेगा जो अन्य पाप कर्म है बराबर आने पे वो पाप कर्म फलों को नहीं देंगे अभी उनका फल बाद में कभी मिलेगा बराबर होके मनुष्य शरीर मिला और फिर चाहेंगे तो वहां अधिक मनुष्य शरीर करके देव शरीर पाके और मुक्त होके मुक्ति में जा सकते हैं लेकिन यदि मनुष्य शरीर मिल गया और फिर पाप कर्म अधिक कर लिया और पहले के भी पाप अधिक थे अब इतने पाप और पुण्य थे ज्यादा और मनुष्य शरीर मिलने के लिए बहुत सारे पुण्य खर्च हो गए और थोड़ा सा पाप भी घट गए लेकिन पाप अभी बहुत ज्यादा है और मनुष्य शरीर में थोड़े पुण्य किए वहां तो किए लेकिन कुल मिलाकर के पाप ही अधिक रह गए तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा उसको कुल मिलाकर के ये पीछे के पाप बहुत बचे हुए रहते हैं मनुष्य शरीर मिलने पर इसलिए मनुष्य शरीर में आके तो पुण्य अधिक करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका पुण्य बहुत लगा करके आए हैं हम ऐसा हाँ श्रुति जी सिद्धांत भूमि का क्या महत्व है जो हम शीश नवाए उसका आप थे नहीं उसमें वहां भूमि को शीश नवाना भूमि को शीश नवाना मूर्ति पूजा का तो खंडन करते हैं जड़ पूजा और उस भूमि का महर्षि के बढ़ाने में क्या योगदान है महर्षि तो बन के निकल के चले गए अब उस टंकारा की भूमि को हम शीश नवाते हैं टंकारा की भूमि को हम तीर्थ कहते हैं जिस तीर्थ का महर्षि दयानंद निषेध करते रहे थे कि ये जो भूमि जगह नदी के किनारे ये तीर्थ नहीं होते तीर्थ तो होते हैं जो ताड़ने वाले जहां विद्या आदि का अध्ययन होता है ये ताड़ने वाले होते हैं गुरु होते हैं और हम भावना में उसको हम भक्ति कहते हैं आंसू लाते हैं और टंकारा की यात्रा कर रहे हैं तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं ये जो सारे कथन है ये सिद्धांत विरुद्ध बातें वो उस दिन सारा कई चीजें वहां पर रखी थी हाँ राजीव जी पाप कर्म और पुण्य कर्म के बराबर होने पर होने से शरीर हाँ कोई अमीर घर में पैदा होता है कोई गरीब घर में पैदा होता है ये कैसे पाप और पुण्य बराबर होते हैं पचास प्रतिशत इसका ये अर्थ नहीं है कि जितने भी मनुष्य बनेंगे उन सबके पाप और पुण्य बराबर ही होते हैं एक जैसे होते हैं अंतर होता है किसी के मान लीजिए दस पाप है और दस पुण्य हैं किसी के नब्बे पाप है और नब्बे पुण्य है दोनों के हैं तो बराबर बराबर लेकिन एक के बहुत कम है और एक के बहुत अधिक है अंतर होता है उसमें प्रतिशत में बराबर है लेकिन मात्रा में भिन्नता रहती है हर व्यक्ति के तो इसलिए ये भिन्नताएं रहती है और उन पुण्यों में भी कैसे पुण्य है पाप में भी कैसे पाप है उसके उससे अंतर पड़ता है दिलीप जी हम्म। तो शुभ कर्म का कोई नहीं है मनुष्य उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहा है <clears throat> जो गाड़ी में घूमता है वो कुत्ता स्वस्थ रहता है या जंगल में घूमने वाला कुत्ता <laughs> कौन सा स्वस्थ रहता तो है नहीं समय पे तो मिलता है मैंने आपसे एक बात पूछी कि, कि कौन सा अधिक सुखी रहता है वो परतंत्र रहता है और वो अगर कार में घूम रहा है हवाई जहाज में जा रहा है तो उसको वो कार और हवाई जहाज दिखाई देता है क्या जैसे हमारे को कार और हवाई जहाज वो कार में जा रहा है ओहो हवाई जहाज में जा रहा है उसको कुछ ऐसा अनुभव तो उसको तो क्या होता है जैसा जमीन पे है वैसा हवाई जहाज में उसको कुछ नहीं उसको बंधन ही है उसके लिए कोई विशेष वैसा सुख वाली बात नहीं है और उस शरीर में जितना उसने दुख भोगा उतना उसका कर्माशय घट जाएगा और बाकी जो कुछ सामान्य सुख हैं खाने पीने के ये तो जीवन चलाने मात्र के लिए उससे कोई उसका पुण्य खर्च नहीं होता है इतर योनियों में पुण्य खर्च नहीं होता है जो गाय ज्यादा दूध देती है उसको ज्यादा चारा मिलता है ज्यादा अच्छा खाने को मिल जाता है ठीक है उसको मिल गया हमारा व्यवहार ऐसा है उसके प्रति किसी ने गाय को भूखा रखा घोड़े को चबुके लगा रहा है खाना भी ढंग से नहीं दे रहा और दिन भर घसीट रहा है तांगे के अंदर ऐसा वो कष्ट दे रहा है तो उसका कष्ट का भी न्याय होगा और कोई खड़ा है घोड़ा आराम से तो घोड़े की योनि में घोड़े के शरीर में जितना उसको पाप का खर्च होना है वो तो दोनों का समान होगा क्योंकि आत्मा उस शरीर में है जैसा जैसा होना है लेकिन उसके अलावा उनको जो दुख आदि की न्यूनाधिकता है वो उनके जैसा जैसा भोगते हैं उसके अनुसार कर्माशय में घटना चाहिए ईश्वर का न्याय होना चाहिए वहां पर ऐसा समझ में आता है हम्म। अच्छा। जो लोग कहते हैं अभी भी चौरासी लाख दुनिया क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण या वैज्ञानिक <clears throat> ऐसा कुछ पुराणों में कहते हैं लिखा होगा ठीक है अभी कुछ दिन पहले मैं एक समाचार में था उसमें तो बहुत ज्यादा शरीर हैं ऐसे वो लाखों और करोड़ों प्रजातियां हैं इस इस इस धरती पर भी इतनी विविधता है छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और वो तरह तरह की मछलियां और जन, जीव जंतु हम देखते भी हैं हमारे को भी बहुत ज्यादा दिखते हैं और कितना तो हमें पता भी नहीं है इस तरह के बहुत ज्यादा हैं और वो लाखों में है ये तो इसका सीधा कोई इसमें संगति लगाते हैं हम्म। चौवन चार और रसमणि प्रकार अंडर स्वेदर्स और चौ मैंने चार और रसी मैंने प्रकार राशि राशि राशि प्रकार राशि प्रकार मतलब है नहीं राशि का मतलब प्रकार कहां से ले रहे हैं <laughs> निरुक्त शैली से निरुक्त शैली से तो ये तो ठीक है कोई ऐसा जरायुज अंडा स्वेदज और उत्पिज ये कहना चाहते हो तो ठीक है पूछे हम्म हम्म ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्य शरीर से पहले कवाला शरीर गाय का शरीर है वो तो वो श्रेष्ठ शरीर है मनुष्य की अपेक्षा कम है लेकिन मनुष्य बनने से पहले वाला जो शरीर होता है वो गाय का होता है ऐसा कई जने बोलते हैं ये तो कोई सिद्धांत वाली बात नहीं है कुछ लोग हाथी का भी बोलते हैं हाथी बुद्धिमान होता है बंदर का भी कोई बोल देते हैं ये तो अपनी युक्ति वैसे ही कथन है जिस भी शरीर में हो और पाप पुण्य बराबर हुए और मनुष्य शरीर मिल जाएगा हाँ और कौन बचा था पीछे से बोलिए नहीं हो सकते कुछ पशु हम्म। अपने अपने संस्कार होते हैं हाँ। संस्कार होते हैं उनका अपना अपना जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार लेकिन वो अपने स्वभाव वशात वैसा करते हैं उससे पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है उनका सर्कस में होते हैं <laughs> उनका कोई पुण्य नहीं होता वो अपने लक्ष्य को पाता है तो उसको उसी समय मिठाई मिल जाती है चीज मिल जाती है पुरस्कारते हैं इतना अच्छे ढंग से रखते हैं लाखों लाखों के कुत्ते आते हैं वो वो वो उनके मालिक को जाती है और मालिक उनके लिए देखभाल करता है तो वो जो कुत्ता था विशेष गुण वाला गंध को अच्छा सहन कर सकता है सूंघ सकता है इत्यादि वो वैसा अपने जैसे उसके कर्म थे उसके अनुसार से उसको शरीर मिल गया यानी पाप कम थे उनके जैसा भी था वो परमात्मा की व्यवस्था से पूरा तो हम समझ नहीं सकते अन्य कुत्तों की जैसे अन्य योनिया होती हैं ऐसे कुत्तों के भी प्रकार हैं उनकी अपेक्षा से उसके <laughs> कोई पुण्य पुण्य क्या है पाप कर्म अलग तरह के थे या कम दुखदायी थे और कुत्ते भी अलग अलग होते हैं कोई ऐसी जगह पे कि हमेशा पूरा जीवन दुख में ही बीतता है उसके आधार पे ले सकते हैं उसको पुण्य से नहीं जोड़ते हैं निष्ठ जी अच्छे हम्म। वस्तु का प्रयोग करते हैं पुण्य हम्म। करता है कम हम्म। तो करता है तो कुत्ते आदि है अच्छे से वस्तु खा रहे हैं तो अधिक पुण्य करना चाहिए किसी रोटी मिल रहा है तो कम करना चाहिए पुण्य हाँ, तो वो मनुष्य शरीर पर ही लागू होता है ना हम यहाँ कर्म करने में स्वतंत्र हैं भोगने में स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से करते हैं परिस्थितियां भी होती हैं लेकिन हम करते हैं उनके लिए तो प्रतिबंध है सारा जो मिल गया जैसी स्थिति है वैसा चलते हैं उससे उनको कौन सा लाभ मिल गया जो हमें पुण्य कर्म का फल मिलता है उसको सुख दुख से सीधा नहीं जोड़ना चाहिए प्रगति के अवसर की दृष्टि से देखिए अब कुत्ता कहीं भी रह ले हवाई जहाज में चल ले क्या भी कर ले उसकी क्या प्रगति है वहां पर कुछ भी कोई प्रगति नहीं है ठीक है न योगाभ्यास का कोई विशेष बात है ना कुछ मकान या विद्या पढ़ना या कुछ भी अंतर नहीं है उस स्तर पे तो वो समान ही है सारे के सारे कुछ कहीं भी रख लो आप उसको कहीं भी रख लो उसको इसलिए प्रगति का कोई अवसर नहीं है वहां पर केवल पाप कर्म क्षय होते हैं इसलिए आप स्थूल रूप से भले ही सुख उनको सुख दुख जो भी उनको अधिक मिल जाए कहीं से उससे उनका कोई अंतर नहीं होता है उसमें हम्म। तो तो नहीं केवल उसके लिए नहीं हमारी प्रगति के साथ अधिक महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है कि हम जब साधनों का प्रयोग अपने लिए करते हैं कुछ प्रगति के लिए और साथ में सुख भी भोगते हैं तो मनुष्यों पर ही लगना चाहिए अन्य जगह नहीं लगना चाहिए हाँ कुत्ता को अगर रोटी दिया जाए मांस दिया जाए तो ऐसा हाँ। नहीं कि वो रोटी को कम समझ करके रोटी खाएगा वो अपने स्वभाव के अनुसार मांस ही खाएगा रोटी को छोड़ करके ठीक है इसे में इसे कहावत है कि बिल्ली कभी प्रेसनाथ नहीं होती हाँ। बिल्ली को कितना भी दूध पिलाए हाँ। वो चूहे को देखती है तो ठीक है इसी पुण्य कर्म नहीं कर सकते नहीं पुण्य कर्म कैसे करेंगे मान अच्छा उनका उनके लिए आप बोल रहे हो कि वो तो मांस को ही खाएगा तो वो तो पशु दूसरे पशु में भी ले लो गाय या शाकाहारी है वो मांस और शाकार रखो तो वो शाकार को ही खाएगा उनके लिए उसमें कोई पाप पुण्य है ही नहीं वो चाहे मांस खाए चाहे रोटी खाए उनके लिए वो पाप पुण्य नहीं है हाँ रामदयालु जी तो तो मतलब उनके लिए उनको जो कष्ट हुआ उनको किसी ने पीड़ित किया अन्याय किया सुख सुविधा में रहा तो बस रह लिया सुख सुविधा में उसका कष्ट कम हुआ यूं कहो अगर का होना है तो बाकी तो वहां रोग अधिक रहते हैं उनको स्वतंत्रता नहीं रहती है वैसी बाधाएं भी रहती हैं बाकी के अपने अपने कर्मों के अनुसार घटते रहते हैं जैसा हो जाए निर्धारित नहीं रहता है अन्यों के द्वारा उनके साथ कैसा व्यवहार किया उसके अनुसार कम या अधिक पाप उनका घटता रहता है हमारे साथ भी होता है ये हमारे साथ भी होता है हमारे को किसी ने गुलाम बना लिया तड़पा रहा है परेशान कर रहा है बहुत दुख दे दिया अन्यायपूर्वक तो हमारा उतना पाप कर्माशय घट जाएगा तो तो मनुष्यों के लिए बोलता हूं तो उन प्राणियों के लिए नहीं मनुष्यों के लिए <laughs> हम्म। नहीं ज्यादा कम नहीं होगा वहां ऐसा नहीं है वहां तो जितना दंड मिला उसको उसके अनुसार होगा सुख दुख पे केंद्रित नहीं है साधनों के मिलने और न मिलने पर मुख्य केंद्रित है उन पशुओं में साधन जैसे भी मिल गए अल्प वो मिले हुए हैं उनको उसके अलावा अब जो छोटे मोटे साधन खाने पीने के उसमें भिन्नता है वो एक अलग बात हो गई ठीक है इतना रखते हैं बोलो नहीं पीछे पीछे विक्रम जी विशेष अमर हो गया वो महाराणा प्रताप का घोड़ा अमर हो गया <laughs> उसने ऐसी छलांग लगाई ठीक है वो अच्छा घोड़ा था उसको अच्छा खाने पीने को मिलता था उसको कष्ट भी बहुत हुए युद्धों में भाग आए वो तो अमर हो गया मतलब उसका हम नाम करते हैं उसके पुण्य की तो कोई बात है नहीं वहां हम्म। वो तो वैसी कहानी है उसमें कोई तथ्य वाली बात तो उस तरह से नहीं कह सकते ठीक है इसको तो यहीं समाप्त करते हैं कर दो बंद कर दो